विभिन्न प्रकार के लोगों के अंदर विद्यमान टेंशन है तनाव थकान है मानसिक शारीरिक थकान है तनाव है इनको कैसे कम करें लोकानुरंजन करो दुनिया को इकट्ठा करो उनको खुश करो हंसाओ मजाक करो चुटकुलियां सुनाओ इससे क्या होगा लोगों को आप अनुरंजन करोगे अनुरंजन करने मात्र से लोग आनंदित रहेंगे दुख गायब सब सुखी अच्छी बात है पर यही परम पुरुषार्थ स्वयं सुखी रहना दूसरे को सुखी रखना स्वयं हंसते रहो दूसरे को हंसाते रहो इसे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है तो ऐसे दृष्टिकोण से संसार का मूल तत्व तो क्या हो जाएगा फिर लोकानरंजन ही मूल तत्व तो जिस पर संसार टिकता है ऐसा कुछ लोगों का कहना है और दूसरे कहते महाराज जी ठीक नहीं है लोकानुरंजन कोई काम थोड़े है कोई शास्त्र विधि तो किया नहीं लोकानुरंजन शास्त्र ने विधि किया गया वर्णाश्रम धर्म इससे बढ़कर कुछ नहीं है ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के कारण से ये संसार टिका हुआ है ये तो टिकता ही नहीं है कहते आश्रमा तद्विद दक्ष प्रजापति आदि लोगों ने कर्दम आदि ऋषियों का वर्णन दे सुनी रहे हैं भागवत आदि देखते ही है आप ये सब आश्रम व्यवस्था को लेकर कटरता है वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था का समय प्रकार से पालन करते हुए जीवन यापन है की वजह से संसार बना उसके बिना संसार तो बनता ही नहीं वहाँ बहुत सुंदर आया प्रसंग इसीलिए मनु जी अपना बेटी को लेकर जाते हैं अब वहाँ समस्या खड़ा हो गया मनु तो क्षत्रिय है करदम तो ब्राह्मण है कर दिया गया अब वो कहते ही है स्पष्ट भाई हम तो ब्राह्मण है हम तुम्हारी तो लड़की से शादी नहीं करेंगे हम लाए तो क्या राज हो तो अपने घर के हम नहीं मानेंगे तब वो क्या कहते हैं वयो गुण शील तुल्या वैसे से गुण से शील आदि से आपके ही बिल्कुल तुल्य है वो इसलिए आपकी हो गया जन्म से स्पष्ट हो गया ना वह जन्म से इसका मतलब कोई न क्षत्रिय है न वैश्य न शूद्र न ब्राह्मण आपका गुण क्या है आपका शील क्या है आपका आचरण क्या है आपका स्वभाव क्या चीज है ये सब लिखी जाएगी ये ब्राह्मत्व के योग जो वर्णन किया गया सत्ताधन से तो ब्राह्मण है चाहे जन्म कहीं भी हो शरीर से क्या लेंगे शरीर कहीं पैदा हो लेकिन गुणशील आचरण आदि सम्यक प्रकार से गृहित है तो आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं नहीं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए शुद्ध है जैसे आजकल लोग है तो ब्राह्मण कुलों में जन्म लिए हैं अंडा मांस दारू फारू सब खाते पीते हैं क्या ब्राह्मण है वो केवल खाते पीते ही नहीं है न संध्या न पूजा न पाठ और पच्चीस उम्र में जाकर शादी से एक दिन पहले जनो पहनते दूसरे दिन निकाल देते हैं क्या ब्राह्मण और गई तो कहते हम ब्राह्मण है और यहाँ आते पंद्रह उम्र हो गया अभी तक जनो नहीं छोटी नहीं गायत्री जब तो क्या ब्राह्मण है भाई कहे बीस बीस उम्र वाले भी आए क्या नाम अमुक शर्मा अमुक जो त्रिपाठी अमुक मिश्रा अरे तीन वेदों को पाठ करने वाला त्रिपाठी कहा जाता है हाँ तो, तो एक वेद भी पाठ करने का अधिकारी नहीं रह गया क्या त्रिपाठी हो तुम तो। मैंने चतुर्वेदी मैंने वाह जब बात है भाई आप तो चतुर्वेदी है बहुत अच्छी बात है लेकिन जो है आप बताइए आपके घर में जो कितने वेद पाठ होता है वेद कितना होता यही पता नहीं है किस बात चतुर्वेदी भाई हाल क्या ब्राह्मण हो तुम में और रति अग्निहोत्री में फर्क क्या पड़ा है अग्निहोत्री टाइटल है केवल अग्निहोत्री तो करते है नहीं इतिहास सुबोध अग्निहोत्री पंडित जी महाराज बड़े विद्वान वेद भवन बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है पोस्ट ऑफिस के सामने क्षेत्र रोड पे पंडित सुबोध अग्निहोत्री नाम है उनका और वही वहां पर अग्रगण्य होते हैं जब वो होता है ना उपाक्रम संस्कार त्रिवेणी घाट में वही सामने बैठे रहते हैं या तो उनके बड़े हाथ बड़े भाई आते सुधांशु अग्निहोत्र जी वो बैठ के माइक से बोलते और सबसे करवाते हैं किसी प्रसंग में वहाँ उत्तराखा बैठ हो गया तो हमने पूछा आप अग्निहोत्री हैं नित्य अग्निहोत्र करते हैं हाँ करते हैं झूठ मैंने कहा गाय का है आपकी क्या चीज क्या जरूरत है मैंने कहा गाय की अग्निहोत्र क्या करोगे जरा पागल है क्या बात कर रहे हो कैसे ब्राह्मण हो घर में गाय नहीं कौन सी दूध से तुम कर रहे दूध का दही बनाओगे फिर अग्निहोत्र के लिए है वहां मार्केट से लोगे भैंस का तो दूध मिक्स वाला और उसकी तुम बनाओगे दही उसका तुम बनाओगे जो है फिर बाद में दही बनाओ उसे मक्खन बनाओ उसे घी बनाओ घी से स्वाहा करोगे क्या भरोसा है उसमें चुप हो गया फिर मैंने कहा झूठ क्यों बोलते ब्राह्मण होकर के कम से कम सच्चाई तो बोला करो सत्य बोलना धर्म तो पालन करो कम से कम ब्राह्मण होने के नाते वो भी नहीं रह गया ऐसे लोग हैं अब वो लीडिंग ऑफिसर बनते हो आप उपाक्रम क्या उपाक्रम कराएगा समझ में नहीं आता जिसने जिंदगी में कभी गायत्री जब सवेरे शाम तो करता है ही नहीं झूठा अग्निहोत्री बना हुआ है वो उसके कराए उपाक्रम से क्या दिख किसी की भला होना वो आचार्य बन के बैठ जाते आचरण में तो है नहीं और आचार्य हो गए इसीलिए आजकल कहने के लिए ब्राह्मण जाति तो है जन्मदा केवल गुण का नहीं गुण और कर्म दोनों जो भ्रष्टि है एक, एक प्रतिशत दो प्रतिशत है ना हो तो फिर संसार कैसे चले एक दो प्रतिशत तो है क्षत्रियो का क्षेत्र काम ही कर रहे हैं वहां मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं और सेना का कार्य कर रहे हैं क्षत्रिय होकर वैश्य बहुत ऐसे हैं जो अपने वैश्य का कार्य कर रहे हैं बिजनेस ही करते हैं ब्राह्मण का काम नहीं करते शूद्र भी ऐसे बहुत हैं जो आगे भंगी तो भंगी है कोई कोई बैठ गया मावत मायावती से बात अलग क्षत्रिय पल आ गया वो हीरे होते हैं जो वो हो जाते कभी कभी तो इसलिए कहते आश्रम में तो संसार का कारण क्या है आश्रम व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था ही संसार को टिका के रखा है नहीं तो काम चलेगा नहीं ये संसार टिक नहीं सकता अरे कहते व्याकरण आ गया तो करे महाराज कहा या वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह बिना व्याकरण का थोड़े कुछ होता है स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग स्त्री पुम नपुंसक लिंगा व्याकरण कहते हैं भाई स्त्रीलिंग शब्द को पुलिंग शब्द को और नपुंसक लिंग इन शब्दों के ज्ञान के बिना तुम्हारा कोई वर्णाश्रम व्यवस्था कुछ नहीं चलने वाला क्या करोगे बात भी सही है अरे शब्द बोलोगे तो पुलिंग बोलोगे स्त्रीलिंग बोलोगे नपुंसक लिंग बोलोगे ना और क्या बोलोगे है अलिंग शब्द भी है इसलिए लहंगा कह दी लिंगालिंग को विवेचन करने वाले जो लोग हैं यही लोगों का कहना है कि शब्दमयी जो राशि है इसके बिना संसार नहीं क्योंकि जो कर्म कांड करना है जो आश्रम कर्म करना है कुछ भी करना है तो शब्दों से तो बोलोगे संकल्प और शब्द कहाँ से पढ़ा आपने कहा से सीखा हमारे व्याकरण से सीखा है आप वही साधु तो साधु तो निर्णय देगा उसके आधार पर आपका कर्म सफल होगा इसलिए इसलिए भाग बचो ये उल्टा तुम्हारा नाश करने वाला हो जाएगा तुम्हारा कर्म कांड तुम्हारा आश्रम पाश्रम सब बर्बाद कर देगा आपको एक भी शब्द आप एक भी वर्ण एक भी अक्षर एक भी स्वर्ग को गलत उच्चारण कर दोगे तुम्हारा सारा सृष्टि सत्यनाश हो जाएगा इधर हमारा व्याकरण की वजह से सत्य सृष्टि टिकी है तो बात बिल्कुल सही कहा कौन सही नहीं कह रहा सब सही है व्याकरण पढ़ के क्या शुभकार तो हमको लगता कई बार शुभकार सही है अरे रोटी पानी नहीं खाओ तो उच्चारण भी क्या करूंगा व्याकरण को इक्वेंट कैसे बोलूंगा अरे रोटी पानी संसार इसीलिए रोटी पानी के संसार कैसे चलेगा आप तो परमात्मा कुछ नहीं रहेगा ये नहीं रोटी खाओगे तो जिंदे हो न मर जाओगे व्याकरण टिकेगा ना कोई चीज टिकेगा संसार कहा से टिकेगा वो अपने तर्क उसका भी अपने ठीक ही है सबके अपना अपना सही है मजा आ रहा है पराब्रम था पर और दूसरे आया कहते भाई पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म जो मुंडक में कहा बस वही वास्तव में संसार है संसार का कारण क्या है कार्य कारणात्मक ब्रह्म ही कारण है तो शुद्ध ब्रह्म नहीं कार्य आत्म ब्रह्म वो परम अथा परे ये कह दिया इसीलिए देखो टीका मित करे लोकारंजन में तत्वी लौकिका हाथ ब्रह्मात्म लोक से बिन रुचित क्योंकि लोक के अपने अलग अलग रुचि है कोई किसी में अपने मनोरंजन मान रहा है कोई किसी में मनोरंजन जो होगा हाँ, सबको एक किसी मनोरंजन होता है क्या किसी को संगीत से मनोरंजन मिल रहा है किसी को सिनेमा देखने से मनोरंजन मिलता है किसी सड़क पे खड़े होकर के दुनिया को देख रही हूँ आते जाते से मनोरंजन हो रहा है उसको यानी सबके अपने अलग अलग नहीं है मनोरंजन की रुचि सबको क्या है जो चुटकुले सुनाने पर मनोरंजन होगा क्या किसी किसी को तो कोई कोई चुटकुले तो बहुत खराब लगे कहीं कितना घटिया बोला इसे लोग बोलते ही नहीं बोलते घटिया चुटकुला बोलती है बेकार आदमी इसीलिए मनोरंजन को संसार का तत्व करके नहीं कर तत्व में नहीं होना चाहिए नित्य होना चाहिए एक रूपता होनी चाहिए उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें जो मूल कारण तत्व कर गिनना चाहोगे संसार के प्रति उसका स्वरूप एक हो वह नित्य और स्वतंत्र उसी से संसार को मानी जा सकती है तो लोकारंजन लोकारंजन के स्वरूप एक नहीं है नित्य नहीं है स्वतंत्र भी नहीं के अधीन है बात वही होती है पेश करने वाले के ऊपर निर्भर है पेश करने वाला कैसे पेश कर रहा है उस चुटकुले को है ना आप बोला सीधा बोले तो कुछ को समझ में नहीं क्या बोला है बोलने वाला अपना बना करके बोलता है हिसाब से है जहाँ उतारना चढ़ना आवाज ऐसे तैसे करके बोलेगा सुनने वाला वो हंसते रह जाए पेट फट जाए इधर पेट में दर्द हो जाएगा ऐसे सुना देते हम लोग सुना रहे तो खुद को हंसी नहीं आती दूसरे को क्या आएगा <laughs> फिर भी सब हंस गए बड़ा आश्चर्य क्यों यही लोकानुरंजन है आश्रम वेश आश्रम शूद्र प्रसंगात वेश को लेकर कहोगे वेश तो सबके बराबर ब्राह्मण क्षेत्र सब पैंट पैंट पहन रहे साफ दाढ़ी में छोड़ रखे छोटी नहीं कोई बाल काटते नहीं ऊपर का सब ऐसे ही है चेहरे इत्यादि को देख के समझ पाओगे क्या ये समझ तो सकते जो बंगला से हम आ रहे थे अपने कंपार्टमेंट जितने थे किसी को भी देखकर हम नहीं समझ सकते थे मुसलमान है चेहरे से नहीं समझ सकते बिल्कुल हिंदू जैसे क्योंकि कोई न तिलक लगा था हिंदू भी कुछ नहीं लगा क्या आपने पता क्या चलेगा अब जो है सब बैठे हैं हम समझ रहे हैं सब हिंदू बैठे हुए हैं वही बात हर तो पड़ता है नहीं जब मुसलमान हो जाए ईसाई हो जो सबको ऐसे घुमा देते हैं और सब अपने हो जाते हैं अब दूर जाने के बाद में दो चार स्टेशन के बाद पता चला क्योंकि समय आ गया ना वो अल्लाह करने का सब बिचारने लग गए उन्हें को ओ, ओ, ये सर जो कटबल्ले है कोई बात नहीं तो जैसे उठ करके बैठे ना फिर एक से हमने शुरू कर दिया तमाशा और सब ऐसा चेले बन गए हिंदू भी नहीं बनता जब दिल्ली से उतरे सबने कोई पचास को सौ दक्षिणा दे गया ये तो बड़ी मुसलमान निकले वही फिर हम हिंदुओं को भी सुनाते तो कोई क्या सुनता कोई देता है नहीं कुछ <laughs> और ये तो कटमूल्यों के दे दिए कमाल है और रास्ते भर में हाजिर रहते थे हर स्टेशन पे समझ कोई चाहे बताओ पानी लाए ये लाए वो लाए है बस हमारे पास हम माटा देने वाला हर स्टेशन पे आ ही रहा कुछ रोज तो हर स्टेशन को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता रहा क्या दिक्कत इसलिए जब हमने कुछ नहीं लिया हफ्ते भर उन्होंने देखा कैसे नहीं चुकाया जाए सामने सौ पचास दो सौ ऐसे दिया मैंने इकट्ठा पांच सौ रूपये मैंने कहा सारा खर्चा निकल गया हमारा <laughs> ये भी अच्छे होते इसका मतलब यह कहने का मेरा वेश के आधार पर आसन व्यवस्था करोगे नहीं हो सकता प्रसंग ज्यादा शत्रुवेचता और जाति से लेकर लोगे ना उसका विवेचन कोई कर ही नहीं सकता दुर्वेचता तन मूल संस्कर्षित संस्कार देश देश और संस्कार क्या करूंगा संस्कार निर्णय कैसे करोगे तो शरीर में संस्कार दिखता नहीं हाँ, गोरी ब्राह्मण होते ऐसे नियम बनाओगे है काले ब्राह्मण नहीं होते क्या हाँ, श्यामे रंगी बहुत सारे ब्राह्मण पड़े हैं और हाँ, स्वयं जो है बहुत प्रसिद्ध लोगों में से देखते हैं दक्षिण भारत बड़े बड़े बड़े विद्वान देखो तो एकदम कोयला जैसे दिखता है <laughs> कोयले का मूर्ति है या नहीं है ना दक्षिण में से पंडित नहीं है काले काले रहते अच्छा बताओ क्या बात हर रंग से निर्णय नहीं हो सकता भाई वेशभूषा से निर्णय नहीं हो सकता संस्कार को तय नहीं कर सकते जन्म की जाति को निर्णय नहीं कर सकते आप और शरीर में तो नहीं है बाहर हो तो पता क्या चले इसलिए जो है कहते हैं आसन व्यवस्था को आप संसार कारण मानते ठीक नहीं वही आकरण कहा फिर भी पुल पुरस्कारियों को मानो ये भी नहीं हो सकता स्त्री आदेश शब्द स्वभाव होते और समस्या भी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक शब्द स्वभाव है नहीं ईश्वर जो स्वभाव होता है तो बदलते रहते सर्वा सर्वा सर्वम तीनों बन गया कहीं त्रिलिंगा है द्विलिंगा है एक लिंगा है नियत लिंगा अनियत लिंगा अलिंगा शब्दों का आपने माना ये नहीं अलिंगा लिंगाश्च दो बेर किया लिंगा में भी नियत लिंगा अनियत लिंगाश्च अनियत लिंगा में भी एक लिंगा त्रिलिंग त्रिलिंगाश्चय थी इधर विवेचन किया तो फिर उसमें शब्द का स्वभाव तो नहीं रहा फिर अनियत लिंग वालों में तो अब विचार तो हो रहे ना नियत लिंग वालों का तो विचार नहीं होता नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुलिंग नित्य नपुंसकलिंग वहां तो विचार नहीं है अलिंगा में भी कोई व्यवचार नहीं जितने भी अभ्य निपाते सब अलिंगा है उनमें भी कोई विचार व्यवचार नहीं है किंतु अनियत लिंगा में विचार मिलेगा कोई पुम नपुम में चलता है जिसमें भाषक पुस्कते हैं कोई पुम स्त्री चलता है कोई स्त्री नपुम में चलता है कोई पुम नपुम में चलते हैं दो दो लिंग में चलने वाले कुछ तो तीनों लिंगों में तटा तटी तटम है ना सर्वा सर्वा सर्वम त्रिलिंगों में चलने वाले भी कहीं है इसलिए वो शब्द के स्वभाव तो लिंग है ही नहीं और कहोगे भाई सर्व शब्द में किंचित आरोपित होने के अन्य तो नित्य है ना कहते फिर ये निर्णय कैसा होगा कि शब्द मात्र ही संसार कारण है निर्णय नहीं हुआ नियत लिंग वाले ही कारण है लाना पड़ेगा फिर अन्य शब्द क्या है वे विचार हो गया ना वे कारण के स्वरूप का इसलिए संसार कारण शब्दों को भी नहीं कह सकते है वे ब्रह्मणी भी तभी परंचा परंचा इस मत को लेकर किसने कहा अगर जो पर और अपर का परिचिन है वो परिचिन तो कभी भी संसार का कारण नहीं हो सकता परिचिन असंभव हो गया नहीं तो घट भी संसार कारण हो जाएगा तो घट भी परिचिन यही परिचिन वस्तु होगा संसार कारण मानोगे घट पटादी भी संसार के कारण हो जाएंगे इसलिए किंचित तो संसार कारण भवितम ना ये सिद्धांत हो जाएगा अतः पर ब्रह्म अपर ब्रह्म को संसार का कारण मानना उचित नहीं है शुद्ध ब्रह्म ही अभिन्न सगर सर्वकल प्राधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म को ही कारण मानना पड़ेगा उससे पहले एक और बात कहने जा रहे हैं सृष्टि रिधि सृष्टि विदो लय तद्विद स्थिति रिधि स्थिति विद सर्वे चेहत सर्वदा कहते हैं सृष्टि लय और स्थिति इन्हीं का तत्व मानो ऐसे पौराणिक लोग कहते पौराणिकों में एक मतभेद है सृष्टि को ही कारण मानो संसार का नहीं नहीं सृष्टि क्या करेगा पहले कभी स्थिति थी तो स्थिति के कारण से तो सृष्टि हो रही है कभी स्थिति ना हो जीवों का कर्म ही रहे तो सृष्टि कहाँ से होगी स्थिति ही कारण है कभी स्थिति आया कहाँ से सृष्टि का स्थिति कैसे होगा और किस चीज की उत्पत्ति मानेगी पूर्व में उसका लय बना पता ना उसके अभाव को तक इसलिए लय ही संसार का कारण है अरे आपस में न करो दोषग्रस्त हो जाएंगे लय कैसे होगा यदि पहले तो कोई चीज हो तो ना लय होगा चीज है ही नहीं तो लय क्या होगा और लय के बिना सृष्टि ने सृष्टि के बिना स्थिति ने स्थिति के बिना लय नहीं तो परस्पर चक्कर दोष घुस गया इसलिए पौराणिक मत ठीक नहीं सर्वे चह तो सर्वदा अंतिम पार इसने सब इकट्ठा गिना दिया उक्त अनुक्त जितने भी अन्य बाद है सर्वे एक इसलिए जितने भी अन्य उक्त जितने हैं वो है प्राण से लेकर के पौराणिक सृष्टि स्थिति लय पर्यत का बाद प्राण से आरम्भ किया प्राण है प्राण भी दो वहां से आरम्भ करके यहाँ पर तो जितना भी कहा और जो नहीं भी गिराया गया यहाँ पर जितने भी उन सकल वादों को इकट्ठा ले लिया सर्वे यह तो सर्वदा सभी के सभी यह मैं अस्मिन शुद्ध ब्रह्मणी सर्वदा कल्पिता ये सारे वाद जितने भी हैं सब के सब मेरी आत्मा में ही कल्पित है इन वादों से हमारा कोई फर्क पड़ता है कल भी तो है ना जितनी भी सब कल्पना कर बैठे हैं और जब चाहते तो उसको मिटा भी सकते कल्पना को अपने हाथों में तो इसलिए यहाँ पर कहते भाष्यकार प्राण प्राच्य व्यवहार प्राण की प्राण प्राण क्या तो प्राण हिरण गर्भ और कहा भी था इसलिए हिरण गर्भ गए हम बीजात्मा जो सरस संसार का बीज स्वरूप ईश्वर से अभिन्न तत् को लेना तब कार्य वेदाई तरे वास्तव उसी की कार्य का भेद के अंतर्गत आ जाएगा स्थिति पर्यंत अंत में अट्ठाईस में गिरा गया सारा का सारा वहां से यहाँ तक पूरे श्लोकों के लिए एक भाष्य सीधा कर दिया बीस से अट्ठाईस तक के तब के लिए सीधी बात करते हैं प्राण जो कहा गया शुरू में वो हिरण्य गर्भ है ईश्वर से अभिन्न है उसी के कार्य कोटि के अंतर्गत जितने भी अन्य विवाद खड़ा किया गया वो सब उसी कोटि के अंतर्गत आ गया अन्य सर्वे और ये तो हो गया जो कहे गए और अन्य भी जो कुछ नहीं भी गिनाया गया है यहाँ पर वे सभी के सभी लौकिका सर्व प्राणी परिकल्पिता सकल प्राणियों के द्वारा परिकल्पित लौकिक व्यावहारिक जो सिद्धांत है वो सकल सिद्धांत क्या है भेदा रज्वा मिव सर्पाद और सकल भेद रज्जु में विद्यमान सर्पादि उनके समान अपनी आत्मा में विद्यमान है तो शून्य सकल कल्पना शून्य होता जो आत्मा है कल्पनाओं से रहित जो आत्मस्वरूप शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप में आत्मस्वरूप अनिश्चय है तो अविद्या कल्पिता वह क्यों आ गया क्योंकि आत्मस्वरूप का अनिश्चय के कारण अविद्या से परिकल्पित थी पिंडी अर्थ ये नौ श्लोकों का यह अत्यंत संक्षिप्त अर्थ है प्रत्येक पद की हम व्याख्यान भी करते है ना उसको तो कोई खास प्रयोजन नहीं था फलगु प्रयोजन प्रत्येक विस्तार से व्याख्या करो इसका कोई खास प्रयोजन मुझे नहीं अनुभव में आता इसलिए मैंने वो व्याख्यान नहीं किया तब आप कहते टीकाकरण की व्याख्यान किया और टीका तो मधुबुद्धिकार के लिए कर रहे ये मंद बुद्धि वाले हैं मैंने क्या पता चले इन वाक्यों का अर्थ इसलिए टीकाकार मंद बुद्धि वालों को सोच कर समझ कर व्याख्या कर दिया और भाषिकार तो उत्तम और अधिकारियों के दृष्टिकोण से कोई व्याख्या नहीं किया यत्नो न करता इसलिए हमने कोई विशेष यत्न नहीं किया ऐसे वार्षिकार का और अधिक से अधिक कहूँ क्या ये जितने भी है सब अपने अपने आचार्य के पक्के कट्टर चेले हैं है कि नहीं चाहे कोई भी ले लो वहां से यहाँ तक जितने भी हैं ये सब प्राण से लेकर के सृष्टि से लय पर्यंत मानने वाले लोगों सभी के सभी चेड़े कट्टर छेड़ो में से हैं और कहते हैं कारिकाकार ये ना सोचिए इनका विनाश होगा या दुर्दशा हो जाएगा सबका कल्याण ही होगा आप चाहिए जहाँ जिस भी के भी किसी भी सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं उसी सिद्धांत निष्ठा कीजिए वो सिद्धांत आपकी रक्षा करके आपको उठाएगा यम यम भाव स्मरण कारण भगवान है जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए तेज तेजत्यंते कले कुछ यम भाव दर्शित तम भाव सुपश्यति पंचावती स भूतवासो तग्रहसो पैटितम यम भाव दर्शित जिस चेहरे की प्रति जो आचार्य गुरु ने जिस भाव को दर्शाता है इस संसार का मूल कारण अमुक तत्व है ऐसे करके जो आचार्य जिस शिष्य को जय जय पढ़ा देता है सशिष्य व वह शिष्य क्या करता है तम भावंत पुष्टी वह शिष्य भी उसी भाव को अनुभव करता है तम चावती और वो जो तत्व है जिसको भी उन्होंने बताया है वह तत्व भी उस शिष्य को रक्षा करते रहेगा महात्मा श्लोक गाता है भोजनम गुरु दुर्बुद्धि हे दुर्बुद्धि तो भोजन को खूब बढ़िया से पाले पर दुर्लभ हम लोग कहता है क्यों हम कहते परान दुर्लभ लोग शुभ कार का छेड़ा होगा ना वो वो शुभ कार का छेड़ा होगा अभी भी है प्रिय श्लोक है उनका जहाँ जाएंगे पहले इसी को बोलेंगे भोजनम करो दुर्बुद्धे है कि नहीं तो कहते कि तम चवती लेकिन वो तत्व ही उन्हीं को रक्षा करते रहेगा हमको कभी बीमार होता हो हमने इसलिए देखा नहीं सब उत्वा सहोदर और वह ज्ञान भी अंदर क्या करता है उसको वही भाव को प्राप्त करा देता है सग्रह तम समुपी तो उसे उत्पन्न व अभिनिवेश क्या करेगा उसके हाथ तो सबको वैसे ही प्राप्त करा देता है भाषकर कहते किम बहुला और विशेष क्या कहूँ आपको प्राणादि नाम अन्यतम उत्तम अनुत्तम व प्राणादि में से जितने वादों का हमने आपके साथ प्रतिपादन किया है या नहीं भी किया है वे सबके समय से किसी भी न किसी एक को यम भावम पदार्थम जिस पदार्थ को दर्शित दर्शाता है यस्य आचार्य जिस शिष्य के प्रति आचार्य दर्शा देता है अन्य आपका कोई दूसरा आत्मपुरुष दर्शा देता है इदमेव तत्व इति ये कहते यही वास्तव सशिष्य तम भाव आत्मभूतम पशती उस भाव को उस पदार्थ को अपना आत्मा ही करके मानने लगता है अहम ही देवा मम ही देवा तो मैं ही दत्तू मैं ही लड्डू पेड़ा बन के खा रहा हूँ प्यार ऐसा मान रहेगा यह मेरा ये है ऐसा मान के चलता तो ताजा में ध्यास कर देता है मैं यू मानना अलग और मेरा ये मान जैसे नारायण नारायण ताजा मिल मेरा पुत्र करके भावना के तभी वो नारायण भाव को प्राप्त कर गया मही नारायण करके मानने वाला वो भी क्या नाम था उसका जो मही नारायण मानते मानते अपने चल गया कौंडक वो अपने आप कृष्ण जैसे वेशभूषा बना लेता था और अपने आप कृष्ण बोलता था और कृष्ण बन गया तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते देखो अहम इतनी करो चाहे मम इतनी करो तम जो दृष्टारम स्वभाव अवधि उस दृष्टा और शिष्य को वह वैसे ही रक्षा कर देता है यो दर्शित इसलिए जाओ भैंसोम वाला उसको रहे भैंसी ब्रह्म है और क्या करोगे उसको भैंस ही दिखती थी चौबीस घंटा उसकी प्यारी थी भैंस बेचारी मर गई उसे दुखी हो गया महात्मा बनने के लिए आ गया है ना अब प्यारी मर जाती है तो महात्मा बन जाते कहीं <laughs> और तो प्यारी भैंस मर गई तो आश्रम पहुंचे बेचारा महात्मा बनने आ रहे अब उसको कहो भगवान का ध्यान भगवान का ध्यान कहा से रहा होता ही नहीं दस पंद्रह के बाद गुरु ने पूछा भाई तुम ध्यान भजन कर रहे हो कुछ फर्क पड़ा क्या फर्क पड़ना महाराज आप जो भगवान का नाम कह रहे हो वो चार हाथ पैर वाला ऐसे वैसा हो तो दिखता ही नहीं हमको दूसरी चार पैर वाली दिखती है क्या दिख रही भैंस दिख रही भैंस आप बहुत प्यारी भैंस थी और जब से मर गई मेरे को तो खाना पीना सब हराम हो गया कुछ चीजें मन नहीं लगती कोई चौबीस घंटा दिखती है तो अच्छा अगर बहस ब्रह्म ध्यान करो उसी बहस को देखो और उसको भ्रम करके ध्यान किया करो नहीं लगा वो बहस भ्रम बन गया महीने भर के अंदर इसका स्थिति होगी झोंपड़ से बाहर ना आ रहे हो तो क्या हुआ चला खत क्या करे महाराज बड़े बड़े सिंह निकल गए और जो आपकी झोंपड़ी उगड़ जाएगी इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ गुरु की संपत्ति में खराब नहीं करना चाहता बड़े बड़े निकल गए सिंह लंबा चौड़ा हो गया भैंस मैं पास ब्रह्म उपोत है अच्छा तो कहते कोई बात नहीं बेटा आप इससे आगे कहीं से ब्रह्म हम बोलो करते करते ब्रह्म नया शब्द आगे ना नया शब्द ध्यान देने लगाओ नया शब्द जैसे ध्यान लो भैंस उठ गया ब्रह्म हम ब्रह्म हम बोलने लगे वो हम ब्रह्म हो गया मरा मरा से राम जैसे हो गया ब्रह्म हम से हम ब्रह्म हो गया वो हम ब्रह्म हो गया तो ज्ञानी बन गया वही भैंस तो उसको ब्रह्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं वो जो तत्व तो उसको आत्मा नहीं पहुंचाएगा क्यों उस तत्व को आत्मा करके मार लिया था स्वयं वही करे यो तो बाबा सो भूतवा रक्षति वैसे ही रूप से उसको रक्षा करता है और स्वयं आत्मना सर्वतो निर्वृद्धि स्वस्वरूप सभी और से रक्षा करते रहता है तस्वीन ग्रह उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है तद विनिवेश आत्मा ही परमात्मा शुद्ध ब्रह्म है तो उसको पकड़ लेता है कहते भी क्या कहते रोटी भगवान क्या रोटी माता रोटी पिता कहते ही नहीं कहते सब कुछ रोटी रोटी है रोटी चालीसा हनुमान चालीसा नहीं करना रोटी चालीसा का पाठ करना तो कहते इसलिए वो जो है ना कहते वो इधम तत्तम करेगा अभिनिवेश कर लेता है अतव स तम ग्रहितारम इसलिए तत्व क्या करेगा उस ग्रहिता को उपैती तस्त्वमेव निगच्छती उसके आत्मभाव को प्राप्त कर जाता है उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वही है नियम बाम स्मरण वही आया तेजत्यंत कलर वाली बात ये तैरेशो अब पृथक भावी पृथग्येति लक्षित एवं यो वेद दत्तेन कल्पयोत्सोभिशंकितः भावी सर्वाधिष्ठान होने के कारण से शुद्ध ब्रह्म में ये सारे सारे भाव विभिन्न मत से बता के सब उसी में कल्पित है पृथक इव इति लक्षित फिर भी क्या है उस आत्मा से अलग के समान लक्षित हो रहा है ऐसा जो जानता है और तत्व तो भाव से उसको स्वीकार करता है सो अभिशंकित संकल्प तो शंका होकर के वह अध्यात्मता उस वेदार्थ तत्व समय प्रकार से जानने वाला होने के कारण से वेदार्थ भाव को सम्यक प्रकार से कल्पना कर सकते तक तत्व में निष्ठा नहीं होती वेदार्थ का ज्ञान भी नहीं हो पाते समझ भी नहीं पाते कहा क्या हो रहा है शास्त्रों को भी वह यहाँ पर ये बात कही गई यहाँ पर यह बात कही स्पष्ट अलग अलग विवेचन करके बता भी नहीं सकता सब खिचड़ी कर देगा एक शंका डाल दो गम घूम जाएगा उसको खोपड़ी हिम्मत पूछो आगे बताएंगे प्रकार देगा तो आता है क्या करेगा क्योंकि ये अभी तत्वभाव प्रसिद्ध तत्वभाव या प्रसिद्धि वाली बात है वो है ही तत्वभाव उसको प्रति प्रसन्न हुआ ही नहीं है अतएव शास्त्र के अर्थ भी वो सम्यक नहीं कर सकता है उसे यही नहीं पता लगेगा पढ़ा रहा है पढ़ रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन उसे यही नहीं समझ में आता कहा क्या है वास्तव स्पष्ट विवेचन नहीं कर सकता इसलिए उनका कहना है कि देखो कि विचार करते भाषाकार हेत ही मैंने प्राणादि भी आत्मनो अपृथक भाव ही क्योंकि आत्मा से जैसे वो अपृथक है क्या आत्मा नहीं कर अधिष्ठान से पृथक नहीं होता कल्पना तो अपृथक बोध ही एश आत्मा रज्जु व्यापक है रज्जु के समाधिष्ठान है सर्पादि विकल्प उपयी पृथक सर्पादि विकल्पनाओं के द्वारा पृथक के समान भाषित होता है इति लक्षित हो अभिलक्षित हो निश्चित हो कहना कहीं मोड़े ही मोड़ लोग इसका ऐसा मानते हैं आत्मा से अलग सृष्टि है और सृष्टि का यह कारण है ऐसा ऐसा विवेचन करते रहते हैं तो विवेकी तो जानता है इनका कोई कारण कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सब मेरी कल्पना है मैं कारण क्या ढूंढूंगा कल्पित तो स्व कारण कौन ढूंढेगा रज्जु में परिकल्पित सर्व का कारण ढूंढो इसके माँ बाप कौन है है ना कैसा अंडा से पैदा हुआ है कौन सा दिल से निकला है ढूंढ पाओगे कोई कारण वे कारण क्यों ढूंढ रहे हो है जब रज्जु में परिकल्पित सर्व का कारण ढूंढ नहीं सकते फिर आगे संसार का कारण क्यों ढूंढ रहे क्योंकि यह संसार भी आत्मा में गलवित है इसे कारण ढूंढना भी मूर्खता हुआ कि नहीं हुआ इसे मूढ़ विकल्पित हो अभिलक्षित हो निश्चित हो विवेकिनांतरज्वाम कल्पिता सर्वादयो न व्यतिरिक प्राण संधि प्राय ही उनका अभिप्राय रहता है भाई रज्जु में जैसा सर्वाधिक कल्पित है वैसे तो आत्मा से व्यतिरिक प्राणादि कल्पना नहीं है आत्म व्यतिरिक प्राणादिया नहीं है सर्वाधिक के समान होने के नाते भी आत्मा में कल्पित है आत्मा से अप्रदगी है ऐसा वो निश्चय कर लेते हैं इदम सर्वम यदय आत्मा ईश्वर है इसलिए कहा इदम सर्वम यदयम आत्मा ये जो कुछ भी है वो आत्मा ही परिषद दो चार छ और चार पांच सात दो जगह इधम सर्वम इधम आत्मनिश्वत है एवं आत्म व्यतिरिक सत्यम इस प्रकार आत्मा से भिन्न रूपेण जैसे रज सर्प होता है वैसे संसार भी असत्य ही है सत्तावान नहीं है आत्मनिकल्पिता नाम आत्मांच केवल निर्विकल्प यो वेद आत्मा में ये सब कल्पित है अतएव मेरा आत्मा ही केवल है और निर्विकल्प है ऐसा जो तत्व न श्रुत तो युक्त श्रुति युक्ति आचार्यों से सुन करके सम्यक प्रकार से निश्चय कर लिया सो तो वेदार्थम विभाग कल्पयेत कल्पयती वह शंका रहित होकर के वेदार्थ को विभागता बिल्कुल स्पष्ट समझता है अमुक वेद का ही मंत्र का अर्थ क्या है ये मंत्र का अर्थ क्या है कर्मकांडी के लिए अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए स्पष्ट विवेचन कर रहता है सारी चीज को इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य परम यदि इदम एवं परम वाक्यम ईश्वर वाक्य वो यही आपको बताएगा दृढ़ निश्चय से बोल सकता है वो अन्य परम और दूसरा जो वाक्य है और दूसरा तात्पर्य है उसका बिल्कुल वाक्य वाक्य को भी स्पष्ट रूप में निर्वचन कर समझने की क्षमता उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इस बात को समझ लेता है ये सब मेरे में ही परिकल्पित है अपने से भिन्न मान तो समझना पड़ेगा ना अपने से भिन्न को अपने अंदर ही है फिर हम देख सकते हैं उसको कहा क्या है जो मुझ में ही कल्पित है मेरे में कल्पित उसको मैं नहीं देख सकता हूँ क्या और ये मेरे में कल्पित ना हो गई बाहर यथार्थ तो, फिर तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग करना पड़ेगा उसको सारा जानकारी लेनी पड़ेगी या नहीं चलिए मेरे से अलग है ना जब मेरे से अलग है मेरे में नहीं है ऐसा चीज को क्या होगा बाहर किसी परीक्षण के द्वारा समझना पड़ेगा उसको और जो अपने में ही कल्पित है उसको समझने कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं यही तो वैज्ञानिक लोग पूछते हैं आपके ऋषि महर्षि लोग ऐसा विलक्षण बात को कैसे कह दिए हम उनको कहते हैं उनका शरीर ही सबसे बड़ा लेबोरेटरी था इस शरीर भी लेबोरेटरी के अंदर बैठ करके उन्हें अपने आत्मा में सारा ब्रह्मांड को देख लिया और ऐसे देखा उनको हर एक पदार्थ अलग अलग अलग अलग अलग दिखाई दिया स्पष्ट और हर चीज की गहराई में पांच को उसका विवेचन करके लिख दिया और जो तुम कर ही नहीं सकते कि तुम तो अपने से भिन्न जगत को देख रहे हो उस जगत की वस्तु में जाने के लिए भिन्न एक मशीन बना दिया लेबोरेटरी बना दिया उसे खोजो कितना भी खोजोगे तुम उसको पा नहीं सकते मैंने उनसे पूछा हाँ बताओ तुम्हारे यहाँ वैज्ञानिक भी जो कुछ भी कुछ कहा है अपने आप को अकलमंद समझ रहा है वो भी क्या लेबोरेटरियों के आधार पर ही किया कि कभी तो उसकी जीवनी को देखो तो पता चलता है कहता क्या हम एकांत में बैठ के सोचते थे चुपचाप बैठे थे न्यूटन को क्या सेव का बगीचे में बैठे बैठे ज्ञान का सेव बैठे चिंता करता रहा चिंतन करते रहा विचार करते करते बैठे बैठे से नीचे गिरा नीचे क्यों गिरा अरे पचास हजार पहले गिरा है उठा के खाया भी तेरा कल नहीं आया उस समय अब वो चिंतन के कारण से क्या हुआ उस समय तो गिरा हुआ चीज उसे समझ में जो हो गुरुत्व तो शक्ति बोध हुआ मैंने उसको एकांतवास जरूरी है सब और समेट के अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा जब अन्य चिंतन करोगे वह तत्व बाहर प्रत्यक्ष हो जाता है ये तो जितनी भी वैज्ञानिकों का जीवन को देखिए सब में जैसे बीवन से थियोरी वाला है आर्किपेडिस क्या उसको आर्किपेडिस वो भी ऐसे ही था रोज ही नहाता था वो वो जो रोज नहाते थे वो टब में लेकिन उसी दिन उसको दिमाग में आई बात बताओ क्योंकि उस चिंतन की परिपक्व अवस्था पाया ना उसने उसके चक्कर में दिन रात लगा रहा था तैरता कैसा कोई चीज ये मछली तैर कैसे रही क्या इसके अंदर ऐसा विशेषता है उसकी खोपड़ी चलती रही चलती रही चलती रही समझ नहीं पाता था और चलते चलते एक दिन तब में खुद ही तैर गए अच्छा, समझ में तैरा क्यों श्वास रोक लिया था कुछ देर चिंतन करते उसकी श्वास रुक गई तैर गया तो श्वास रुकने से हल्कापन आया तो उधर कहा हाँ, इसका मतलब हमें भी यही काम करना पड़ेगा किसी चीज को हवा आवागमन को बंद कर दो भर दो हवा और रोक दो निकाल दो हवा और रोक दो तो तैर जाएगा चीज समझ गए छोटी सी बात थी लेकिन उतनी चिंतन और सबसे अलग हो गया दिमाग उसका घर गृहस्थी छोड़ा सारा चिंतन छोड़ा सबसे अलग होकर के एकांतवासिकता तर्श कर रहा है सब उसके अंदर इसलिए तुम्हारे वैज्ञानिक जो बाह्य तत्व को समझने के लिए इतनी एकांत आज इतनी मेहनत इतना वर्ष लगाया जा रहे और तब भी अंत उसकी अकल में कमी थी वो यही समझ पाया जिस बड़े छेद से माँ बिल्ली जा रही है उसी बड़े अच्छे से छोटे बच्चे बिल्ली भी जा सकते हैं ये न्यूटन नहीं समझ पाया बताओ वो कहता है छह बच्चे हैं इसे छह अलग छोटे छोटे छोटे छेद बनाओ बड़ा छेद में तो बड़ी बिल्ली तो जाएगी माँ जाएगी लेकिन बच्चे कैसे जाएंगे उसमें नहीं जा सकते अगर दिमाग क्या है उसकी बड़ा वैज्ञानिक दुनिया की क्या वैज्ञानिक है नहीं समझ पाया और नहीं छो छह हुई एक जिससे नहीं लाइन से आएंगे के बारे को भी नहीं अकल आया उसको एक छह अलग अलग छेद बना होता कि सब एक साथ आ जाइए अपने अपने छेद से दिमाग खराब और फिर उसको बढ़ाई को बुलाया बढ़ाई बहुत समझाया नहीं मानता है चीजें दिखाई बड़ा चीज फेंका फिर दूसरा छोटी चीज फेंक उसी से निकल रहा है नहीं ये तो भाई बॉल तो आ सकता है बिल्ली नहीं आ सकती बिल्ली के बच्चे नहीं आ सकते तो, चलते हैं ना लेकिन तो तुमने फेंका है ना जान के लेकिन वो नहीं आएंगे बोले हाँ, ठीक है ऐसे करते शांत रहो छेद मत करो खराब हो जाएंगे सारे छेद कर करके ठीक नहीं उसने क्या किया बाहर से जो है दूध रख दिया अमिया अमिया चिल्लाने लगा यहाँ चला तो बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई और दूध के गल के कारण बड़ी तेज से भागी बिल्ली सारे बच्चे साथ साथ घुस गए हाँ वो नाचने लगा चिल्लाने लगा हाथ पर तालियां बजाने लगा कमाल हो गया आज बड़ी बिल्ली का अच्छे से सारी छोटी बिल्लियां निकल पड़ी किधर कमाल <laughs> बड़ा आश्चर्य की बात है अरे क्या आश्चर्य हमारे तो गंवार भी बता देता है तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है अपने अंदर ही है अपने से अलग जब नहीं है उसको अपने अंदर चीज को में जान लोगे तो उसको विवेचन कर कोई कठिन नहीं होती इसलिए नहीं आना अनाध्यात्म अनाध्यात्म जो वेदार्थ तुम ज्ञातम शत्रुता जो अध्यात्मता जो नहीं है वो वेदार्थ तत्व को सम्य प्रकार से जान ही नहीं सकता नहीं अनध्यात्मित कश्चित क्रिया फल ही मानव वचन मनुस्मृतिकार स्पष्ट ही कहा दिया यह अध्यात्मविद्या के अलावा कोई दूसरा इस तत्व को समय प्रकार से जान नहीं सकता है पृथक भाव पृथक लक्षित एवं यो वेद तत्वीर कल्पये स्विशंकित इस अंतिम विचार था ये कहा मनुष्य प्रतिकार ने भी बात कहा है जो अनाध्यात्मवित्त है जो अध्यात्मित नहीं है वही क्रिया अतजन्य फलादियों को ग्रहण करता है उपास है नहीं अनाध्यात्मित कश्चित क्रिया फल उपास थी इत्यादि से मनुस्मृति का स्पष्ट कहा क्रिया सबसे प्रमाण उच्चते तत्फलम तत्व ज्ञान अग्निहोत्र आदि क्रिया बुद्धिशुद्धि द्वारा तस्वीन पर्यवसानाथ इत्यर्थ क्योंकि अग्निहोत्र आदि क्रियाएं भी क्या है अंधगुण शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान में ही परिवसान होता है इसलिए वेदार्थ तत्व को प्रत्येक स्वरूप से अभिन्न रूपेण जानने वाला जो अध्यात्म अध्यात्मवेत्ता है वही शास्त्रों का यथार्थ स्वरूपेण प्रविभाग पूरक प्रकाश विवेचन करता हुआ अधिकारी आदि भेद से हर प्रश्न को समय प्रकार से कथन कर सकता है जो अनध्यात्मित है वह क्रिया फलादियों को प्राप्त करते हुए क्रमश वो भी इससे पहुंचेगा साक्षात नहीं हो सकता और संपूर्ण अभी तक जो तीस श्लोकों में आपने पढ़ा इस प्रखंड का उसका सार को बताने से पूर्व में निष्कर्ष दे रहे स्वप्रमा यथा दृष्टि गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदम दृष्टम वेदांतेशो विचक्षण जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत का मिथ्यात्व कहा गया उन्हीं को प्रमाण के अनुग्राहक श्रुति के आधार पर कथन करना चाहते हैं इस अनेक प्रमाण हमारे लिए समर्थन में है इसके अनुग्राहक है अतः यह आभास नहीं है जो कथन किया जा रहा है द्वैत मिथ्या है ये भी भ्रांति है ऐसा न समझे इसलिए कहते यथा स्वप्रमायी दृष्टि गंधर नगरम यथा जैसे आप स्वप्न और माया इन दो को देखते हो माया से मायावी का जो अथवा जिस प्रकार से गंधर्व नगर को देखते ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग प्रवृत्ता लोग वेदांत शास्त्रों में इस विश्व को देखते हैं इधम जैसे आप अपने आप में स्वप्रगम इत्यारोपण दर्शन करते हैं आप जागृत में रहते हुए मायावी के की का माया को मिथ्यारोपण देखते हो और जागृत में ही बैठे बैठे ही गंधर्व नगर बनाकर क्षण भर में सब कुछ साफ हो जाता है ये सब स्वयं हर व्यक्ति जागृत और स्वप्न में अनुभव कर रहा है जैसे वैसे विद्वान लोग जागृत और स्वप्नों को भी ये अवस्था त्रय को भी मिथ्यारोप क्योंकि आप जागृत में को सत्य मान करके गंधर्व नगर को मिथ्या मानते हैं जागृत को सत्य मान करके स्वप्न को मिथ्या मानते हैं और जो अपने आप को सच्चा मान करके उस माया को मिथ्या मानते हैं इस प्रकार से जागृत में क्या होता है एक अवस्था को सत्य मान के दूसरी अवस्था को परिदृश्य मान दूसरे को मिथ्या मान रहे हो लेकिन जब आत्मस्वरूप में पहुंच जाएंगे वेदांत शास्त्र अनुसार सिद्ध होता है अपना स्वरूप से जो कुछ भी